जगह में आ नहीं पाए इसके विरोध किया हाँ। है ना इसमें अस्थिरता अनिश्चयता को मोल लिया इसके साथ विरोधी काम किया इसीलिए अस्तित्व विरोधी काम किया मानव विरोधी काम किया करना ही पड़ा हाँ। दूसरा कोई रास्ता नहीं रहा इस ढंग से मानव विरोधी अस्तित्व विरोधी काम करते हुए अपने को प्रचंड विद्वान माना हाँ। कौन विज्ञान या प्रचंड विद्वता माना या प्रचंड विद्या माना हाँ। अच्छा अभी उसमें भी बहुत सारा परेशानी है विज्ञानी विज्ञानी जुम्मेवार है विज्ञान जुम्मेवार है हाँ जी विज्ञानी सच नहीं है हाँ। मानते हैं विज्ञान सच है हम्म। यहां पहुंचते हैं विज्ञान क्या विज्ञानी के बिना गति बनती है पूछा जाए तो वहां कुंठित आप इसको सुन लिए इस ढंग से वो परेशान है ठीक है ना हम्म। विज्ञानी के बिना विज्ञान का क्या गति है नहीं नहीं है है ना तो ये अध्यात्म ईश्वरवाद है ईश्वरवाद के बिना ईश्वर को समझे बिना ईश्वरवाद क्या परंपरा बन पाती है हम्म। नहीं बन पाती है ना यदि समझने के बाद यदि प्रमाणित होता है कि नहीं होता है पूछा जाए तो तर्क से पता लगता है कि प्रमाणित होता है ठीक है तो ईश्वरवाद रहस्यमय होने के कारण से प्रमाण के पास पहुंच नहीं पाया हाँ। और विज्ञान वैज्ञानिकों विज्ञान का धारक वाहक ना मानने के आधार पर विज्ञान से कोई कंक्लूजन निकला नहीं समाधान निकला इस ढंग से क्या अस्तित्व में ही जो वस्तु है उसको लेके चले उसको हमने समझा इसको तो अस्तित्व का कुछ भाग को विज्ञानियों ने सच माना कुछ भाग को अध्यात्मवादियों ने सच माना कुछ भाग होने के कारण से दोनों प्रमाणित नहीं हो पाए हैं संकटग्रस्त हुए दोनों का दोनों इसीलिए विकल्प की जरूरत है यहां हम आ गए छोटी सी गवाही से इस इसके इस आधार पर हम आ गए तो उसके लिए पहले दर्शन प्रस्तुत किया दर्शन के आधार पर विचार को विचार का आधार प्रस्तुत किया विवेक और विज्ञान विवेक और विज्ञान को प्रस्तुत करने के बाद निर्णय की बात में आ गए निर्णय के बाद निर्णय मूलक विधि से अपन शुरू करते हैं जिम्मेवार आते ही आते हैं तो जानना मानना ये ज्ञान विवेक विज्ञान तक हम आ गए हम्म। है ना जो जानने मानने के बाद पहचानना निर्वाह करना होता है ऐसे पहचान किए जाते हैं हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को पहचान लेते हैं तो बाबा थोड़ा सा जानना मानना पहचानना निर्वाह करना जो शब्द है उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए अभी बताया ना बाबा हाँ। ज्ञान जो है जानना जी ज्ञान जो है ना मूलता क्या है सत्ता में संपर्क प्रकृति प्रकृति और उसको क्या बताया सह अस्तित्व सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान हाँ। नाम क्या दिया दर्शन ज्ञान द, क्या दर्शन ज्ञान सहअस्तित्व सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान होने का ज्ञान होना कैसा है सहअस्तित्व रूप में है हम्म। ये बात यदि मूल रूप में समझ में आता है पकड़ में आता है मनुष्य उधर इधर होता नहीं इसको अपन सुनकर सुनकर के यदि टाल देते हैं आदमी रास्ते में आएगा नहीं वही वही काटा कोटा में ही रह जाता है हम्म। ठीक है अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान पहले ऊपर लिखा ठीक है ना हम्म। अस्तित्व जो कुछ भी है सहअस्तित्व रूप में है सहअस्तित्व मूलतः तो सत्ता में संपर्क प्रकृति ऐसे प्रकृति चार अवस्था में है चार पदों में है इसको इसको व्याख्या दिया उसमें जो प्रक्रिया बनी है क्या चीज बना विकास क्रम एक प्रक्रिया है और विकास एक प्रक्रिया है जागृति क्रम एक प्रक्रिया है जागृति एक प्रक्रिया है सदा सदा के लिए प्रक्रिया है ऐसा रेखा देखिए सत्ता शाश्वत है अपरिणामी है जीवन विकास पूर्वक अपरिणामी हो गया बोलिए सर बोलिए सर कितना सही बात है सोचते मैं मनुष्य आदिकाल से अमरत्व को सोचता ही रहा जीवन अमर है यह भी अपन पता लगा सकते हैं कितना छोटी सी बात हो गई हाँ। कितना दुख दर्द से दूर होने की रास्ता बनी ठीक है ना अमरा निर्जरा देवा त्रिदशा विबुधा सुराख हम्म। अमरत्व को ऐसा कहा है इसका क्या मतलब बाबा जो जरा नहीं होती है वो अमरत्व अच्छा बुढ़ापा नहीं आता अमर क्या है निर्जरा जरा जो वृद्धाप्य नहीं आता है उसका नाम है जरा वृद्धाप्य को जरा कहते हैं जी कहा है हमारा बुजुर्गों ने कहा है हम्म। ठीक है अजरा हम्म। मैंने वृद्धापि होते ही नहीं बुढ़ापा जिसकी नहीं होती हाँ उसी का नाम है देव देवता नाम है अच्छा ये पहले लिखा है हम्म। अभी जीवन में जरा दोष है ही नहीं, हाँ, नहीं। परिणाम दोष है ही नहीं है नहीं। तो इसीलिए जरा दोष नहीं है हम्म। मात्रात्मक परिवर्तन से मुक्त हो गया है हम्म। यह लिखा है मात्रात्मक परिवर्तन जब तक है तब तक जरा दोष हम्म। रचना विरचना तक है जरा दोष इस बात को कहा रासायनिक भौतिक वस्तुओं में रचना विरचनाएं होते ही रहते हैं हाँ। ठीक है ना जीवन वस्तु में कोई भी रचना विरचना होते ही नहीं है ना उसमें क्या होता है चेतना चेतना के बारे में आया जीव चेतना मानव चेतना देव चेतना दिव्य चेतना को स्पष्ट कर दिया हाँ। तो मानव जो है ना जीव चेतना पूर्वक अव्यवस्था में फंसता है क्लेश को मोलता है क्या हुए क्या हुए छोटी हालत बैंड है इस सूत्र में आदमी जात की आदमी जात का हालत बैंड होगा जीव चेतना में गलतियों को अपराधों को करते हुए हैं क्लेश को मोलता है इसका क्या गवाही पूछा सारा राज्य तंत्र में जो संविधान बना है मानव को गलती अपराध कर सकता है इसको स्वीकार है ठीक है और सारे धर्मगति आदमी को पापी अज्ञानी कहा है बोलिए साहब इससे ज्यादा बड़ा गवाही कहां से लाने की जरूरत ठीक है अब बताए ठीक है इस आधार पर उसके बाद कथा भारत भागवत के रूप में मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना सब कह ही चुके हाँ। और उसके बाद उसके बाद में सुनना सबका करना अपने मन की ये भी कह चुके ठीक है ना खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है ये भी कह चुके हम्म। ये सब तो हम सुन ही चुके हैं शायद सभी सुने हैं ऐसा मेरा सोच ठीक है ना ये सब झूठ की पुलंद है क्या सुना बाबा मुंडे मुंडे ये मतिर भिन्ना है ये जो है ना भ्रमवश हाँ। भ्रम को भ्रम को झूठ मानोगे कि नहीं मानोगे हाँ, खत्म हो गए बात उसी से पैदा हुआ ये क्या चीज मुंडे मुंडे उसके बाद सुनना अपना सुनना सबके करना अपना मन की हम्म। ये भी उसी से जन्मा ठीक है ना और उसके बाद जो है ना इसमें निराशा जब भाई बताया खाले हाथ में आना खाले हाथ में जाना क्या चीज शरीफ जीवन ज्ञान नहीं था इस बात को प्रमाणित कर दिया कि नहीं जीवन ज्ञान ना होने का ये प्रमाण है हो गया कि नहीं हाँ। या और कुछ गाल बजाना है ठीक है ठीक है हम्म। तो जीवन ज्ञान हमारे ईश्वरवादी परंपरा में थी नहीं हम्म। इस बात का ये प्रमाण है हम्म। ये शिष्ट परिवारों में ये तीनों नारा चला क्या सुना वेद वेद वेद मूर्तियों के परंपरा में चला इससे ज्यादा शिष्ट परिवार को पहचाना हाँ। नहीं गया ठीक है जब वेद मूर्तियों के परिवार में ये तीनों नारा चला इससे पता लगता है कि जीवन ज्ञान नहीं था हाँ। पर्याप्त है इतना इतना गवाही के साथ हम आगे चल दिया ठीक है वो उसमें जीवन को जब समझा मैंने आत्मा माया संपोटित बताया माया संपोटित होने के बाद माया ज्यादा बलवती है कि ब्रह्म ज्यादा बलवती है ये आया है ना उसमें जो है ना वो तो होना था जीवों को ज्ञान की ओर जाना था हाँ। और ये कर्म की ओर चले गए चर्म में कर्म में जो ना पाप पुण्य होता ही है पाप पुण्य होता है तो कर्म बंधन आ गया हम्म। कर्म बंधन के आधार पर आवागमन हो गया स्वर्ग और धरती धरती को कर्म भूमि माना फल को भोगने के लिए स्वर्ग नरक बताया ऐसा बताया मैंने इसको डिसाइड किया इसका फल जो है ना धरती में ये मिलता है इसके लिए कोई स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं ना नरक जाने की जरूरत हम्म। इसको हमने समझा ऐसा बताया पूरा हो गया पूरा हो गया तो इसको अपन को प्रयोग किए अभी बिलासपुर में एक जेल में कैदियों के साथ कुछ सत्संग किए हाँ। उसमें उन लोगों ने लिखे दिया लिखित रूप में इसको सरकार को प्रस्तुत किया गया उन्होंने ये लिखा है हम पकड़ में आए इसीलिए अपराधी हम्म। पकड़ में नहीं आए वो हमसे हमसे ज्यादा अपराधी घूम ही रहे हैं सही ठीक ये लिखा था ठीक लिखा है है ना दूसरा ये कहा वो अभी सर्वोच्च कोटि की अपराध किया उसके आगे के अपराध के लिए हम सोचते रहे हाँ। इसके पहले यहाँ बैठ कर के ये तो भीतर आ गए यहाँ सोचने के लिए बहुत समय है हम्म। हम ऐसे सोचते रहे सर्वोच्च कोटि के अपराधी हैं उनसे आगे के अपराध कैसा किया जाए हम्म। इसके बारे में हम सोचते रहे है ना ये बोले उसके बाद ये बोले अभी तक कि हमको ये जीवन ज्ञान का ज्ञान ना होने के कारण से हम भ्रमित होकर सारा अपराधों में फंसते ही रहे हाँ। ठीक है और फंसते ही रहे ऐसे हर व्यक्ति फंसा है उनके अनुसार अपराधियों के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपराध नहीं करता हाँ। क्या सुना जी क्या फिलॉसफी है क्या पॉइंट है ठीक हम पकड़ क्या बात हम पकड़ में आए हैं इसलिए भीतर अच्छा, हाँ, पकड़ में जब तक नहीं आए थे वैसे ही सफेद कपड़ा बढ़िया हम घूमते रहे ऐसा बताए हाँ, हाँ। ये सब लिखा है उनके रिपोर्ट में <laughs> तो उसके बाद कहा उसके बाद सभी में तीनों प्रकार से लिखा हुआ अंत में कहा जीवन विद्या आने के बाद हमारा विचार में परिवर्तित हुई हमको न्यायपूर्वक जीना चाहिए तीनों तीनों बात को घोषणा करने के बाद यही लिखा उसको कमिश्नर को दिए हर्ष मंदर को जी अपने पास रखा कि गवर्नमेंट को पेश किया हम नहीं जानते उसका फोटो कापी साधु के पास रखा ठीक है ये सब बातें इस प्रकार की गुजरे उसके बाद हम लोग सोचा इतना अच्छा सोच पाते हैं इनके लिए क्यों ना ऐसा व्यवस्था प्रावधानित किया जाए हम्म। ये निर्दोषी होकर के निकल जाए हाँ। उसके लिए हम दो स्टेप दिए हम्म। आगे जो जो बंद जेल से खुले जेल में एक अवसर पैदा किया जाए हम्म। देखरेख यथावत किया जाए हाँ। उनके साथ अब उनका पहचान की एक व्यक्ति रहने के लिए अनुमति दिए जाए हम्म। और उसके साथ अपना श्रम से आजीविका को चलाने के लिए व्यवस्था दिया हाँ। जाए एक स्टेप पे दिए उसके बाद जो ये जिसके साथ अपराध किए थे हम्म। उनके साथ ये रहने के लिए अवसर दिया जाए हम्म। इनको वे देखें जांचें इनमें परिवर्तन हुआ नहीं हुआ वो बतावें यदि वो कहते हैं परिवर्तन हो गया हम्म। उसको सरकार माने हम्म। उसके पहले हम देखते हैं यदि हमको समझ में आता है ये परिवर्तन हो गया है उसको माने हम्म। उसके पहले ये आपका सरकारी आमला देखें इनमें परिवर्तन आया नहीं आया पूछो परिवर्तन आए तो उसको माना जाए इन तीनों विधि से मानने की इसको गवाही माना जाए पहले ये अपराधी है इसका गवाही आ चुकी है उसके आधार पर इनको सजा हो चुकी ठीक है ना इन तीनों गवाहियों के आधार पर इनके बाकी सजा को माफ कर दिया जाए जी इनको अच्छे ढंग से जीने के लिए व्यवस्था किया जाए ठीक है वो अपने ढंग से जीने के लिए उनको छोड़ दिया जाए तो हाँ। मैं एक होगा ठीक है अच्छा छोड़ने के पश्चात भी आपके पास निगरानी करने की व्यवस्था बनाई है बना के रखा जाए पुनः इनका मन तो नहीं बदला उसको देखा जाए क्या पर ठीक है ऐसा बात तो हमारे यहां इसमें शहडोल जिले में एक आदमी अपना भाई को मर्डर कर दिया उस मर्डर को केवल उनका भाभी देखी थी हाँ। ठीक है और कोई देखा नहीं था ठीक गवाही एक ही हो तो उसके आधार पर उन प्रतिवाद में पत्नी का गवाही को गवाही नहीं माना जाता अच्छा पत्नी के अलावा कोई दिया देखा नहीं हम्म। तो उन्होंने पत्नी तो अपना गवाही दी ठीक और उन्होंने रिमांड में वो, वो जो इसमें जमानत में आ गए हम्म। वापस जी उनके भाभी को धमकाया हम्म। तुम्हें यदि गवाही दिया तो समझ लो कि तुम ही नहीं रहोगे धरती में हम्म। ठीक है और उसके बाद उनके भाई और एक था वो झूठा गवाही हो सकता है ये तैयारी करते थे छोटे भाई को धमकाया तुमने देखा नहीं है तुम झूठा गवाही दे, दे देना नहीं हम देखा नहीं है सुना हूं बोलो हम्म। जो किए हो उतने बोलो हाँ। ऐसा धमकाया धमकाया था तो ससुर वो उनका उनका उनका पत्नी का दवाई गवाही को बहुत एविडेंट नहीं मानते थे उसके बावजूद भी वो जज जो है ना कंसिडर कर सकते थे उसके बारे में उनका गवाही बदलना पड़ा उनका भाभी हम्म। ठीक है हम भाई हम जो है ना मैंने व्यामोह से कह दिया हम देखे नहीं थे कह दिया उसके आधार पर वो छूट गए छुट करके आया उनका भाभी को भी उन्होंने अपना पत्नी बनाया अभी वो जीवित है आदमी ये न्याय ले जाओ इस प्रकार के अपराध के साथ अपराध की श्रृंखला सोचने वाली बात आता ही है ठीक है हम्म। तो वहां कैदियों ने बताया हम अपराध के जगह में न्याय को सोच सकते हैं ये हम हमको यही जीवन विद्या को सुनने के बाद पता चला इसके अनुसार हम जिएंगे यही वचनबद्ध हुए इससे अच्छा क्या रिजल्ट हो हाँ। सकता है आप सोचो हम जीने के लिए तैयार हैं हाँ। और ये कहा ठीक है ना उसके बाद जो है ना उसके उसका कोई लाभ नहीं हो पाया उन लोगों को मैं हम लोगों ने कहा, कहा इनको एक अच्छा आदमी बना करके हाँ। ये पुलिस वाले अपने हविस पूरा करने के लिए मटेरियल ना बनाए जाए लिख के हाँ। दिया हाँ। लिख के दिया है हमने जय हर शरण भवता नारायण नारायण हरि हर जय हो मंगल हो कल्याण विकल्प में समझ सोच विचार निर्णय कार्य व्यवहार व्यवस्था फल परिणाम इतने जो मुद्दे हैं बाबा उसको संक्षेप में एक बार हाँ, रिपीट कर दीजिए ठीक है सोच विचार सोच विचार का आधार में ये बताया है ज्ञान के आधार पर विवेक